हम्माद ने अयूब से उन्होंने हाफसा से और उन्होंने हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह तला से उस साबिका हदीस की तरह रिवायत बयान की उसके सिवा कि आपने फरमाया तीन पांच सात या अगर तुम्हारी राय हो तो इससे जायद बार गुस्ल देना हफ्सा ने उम्मे अतिया रजी अल्लाह तला से कहा हमने इनके सर के बालों की तीन गुंदी हुई लटे बना दी सही मुस्लिम हदीस नंबर दो हजार एक सौ इकहत्तर